सुना है मैंने सूफी फकीर बाजी से किसी ने पूछा कि क्या मैं कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं तो बाजीद ने कहा कि तुम पूछ सकते हो लेकिन तुम प्रश्न पूछ सकते हो इसीलिए उत्तर पाने के योग्य भी हो ऐसा मत सोचना तुम प्रश्न पूछोगे जरूरी नहीं है कि मैं उत्तर भी दू क्योंकि उत्तर मैं तभी दे सकता हूं जब तुम पात्र हो उत्तर को झेलने के गलत आदमी को दिया गया ज्ञान खतरनाक हो सकता है अपात्र के हाथ में शक्ति स्वयं उसके लिए और दूसरों के लिए भी हानिकर हो सकता अमृत भी अपात्र में जहर हो जाता ये सूत्र शुरू होता है हे शिष्य इसके पहले कि तू गुरु के साथ और प्रभु के साथ साक्षात्कार के योग हो सके क्या कहा गया है तुझे करने को कैसी पात्रता तेरी निर्मित होनी चाहिए लोग गुरु को खोजते हैं बिना इसकी फिक्र किए कि वे अभी शिष्य होने के योग हैं या नहीं लोग परमात्मा को भी खोजते हैं बिना इसके लिए जरा भी प्रयास किए कि उनके पास वे आंखें हैं जो परमात्मा सामने हो तो उसे देख पाए और परमात्मा सदा ही सामने और गुरु भी इतना ही निकट है इस अस्तित्व में जिसकी भी सत्य के लिए प्यास है उसे मार्गदर्शन देने वाला बहुत निकट ही उपलब्ध है यहां कभी भी उनकी कमी नहीं है जो आपका हाथ पकड़े और रास्ते पर ले जाएं। और अगर आपको लगता हो कि उनकी कमी है तो आप एक ही बात समझना कि आपकी योग्यता नहीं कि कोई आपका हाथ पकड़े या शायद अगर कोई आपका हाथ भी पकड़े तो आप अपना हाथ झटक के छुड़ा लेंगे या आपके हाथ पहले ही किन्हीं और ने पकड़ रखे या आपके हाथ इतने बड़े हैं आपने किसी और के हाथ पकड़ रखे कि अब उन हाथों को हाथ में लेकर आपको किसी यात्रा पर ले जाना संभव नहीं गुरु न मिले तो एक ही बात समझना कि शिष्य होना अभी संभव नहीं हुआ जिसके आप योग्य हो जाते हैं वो तत्क्षण मिल जाता है इसमें जरा भी संदेह नहीं अगर न मिले तो अर्थ एक ही होता है कि हम हैं अयोग क्या होगी पात्रता शिष्य की कि गुरु के साथ और प्रभु के साथ साक्षात्कार हो सके और जिसका गुरु से भी साक्षात्कार न हो सके उसका प्रभु से साक्षात्कार होना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि गुरु इस पार्थिव जगत में उसका संदेश वाहक है उसका प्रतीक है उसकी ही किरण है अगर वो सूरज है तो गुरु उसकी ही किरण है और जो अभी किरण को भी नहीं देख पाता वो सूर्य का साक्षात्कार कर सकेगा ये मुश्किल है गुरु का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसमें आपको परमात्मा दिखा और अगर आपको कहीं भी परमात्मा नहीं दिखता है तो फिर उस अदृश्य को देख पाना आपके लिए संभव न होगा आपकी पहली पहचान तो दृश्य में ही होगी कहीं सीमा में कहीं साकार में कहीं रूपरेखा में बंधे हुए ही आपकी पहली पहचान होगी इसलिए नहीं कि वो रूपरेखा में और सीमा में है बल्कि इसलिए कि आपकी आंखें आपका ढंग आपका सोचना आपकी सारी व्यवस्था अभी केवल सीमा को ही पकड़ सकती है और जो गुरु को भी नहीं पकड़ पाता और जो गुरु को भी नहीं समझ पाता और जो गुरु को भी नहीं देख पाता उसके लिए परमात्मा का देखना अत्यंत कठिन है असंभव है ऐसा नहीं कहता हूं संभव है और कुछ लोगों ने बिना गुरु के भी उसे देख लिया लेकिन तब अत्यंत दुस्साहस की जरूरत है और जिनको गुरु से भी साक्षात करने का साहस नहीं है वे कैसे वैसा दुस्साहस जुटा पाएंगे क्या है पात्रता शिष्य होने की अंतिम द्वार पर पहुंचने के पहले तुझे अपने मन से अपने शरीर को अलग करना सीखना होगा छाया को मिटा डालना है और शाश्वत में जीना है हम भी जी रहे हैं छाया में वो जो परिवर्तनशील है उसमें हम भी जी रहे हैं जीवन हमारे पास भी है लेकिन क्षण भंगुर में जो अभी है और अभी नहीं हो जाएगा जितनी देर कहने में लगती है उतनी देर में भी हो सकता है नहीं हो गया हो जैसे कोई रेत के मकान बनाता हो या कोई ताश के घर बनाता हो ऐसा हमारा जीवन है क्षण भंगुर से बंधा सोचिए जहां जहां आप पाते हैं कि आपका रस है वहां वहां क्या है वहां कुछ है जो क्षणभंगुर है धन को कोई पकड़ रहा है बहुत रस है धन में लेकिन धन का धन का क्या शाश्वत मूल्य है धन का क्या सनातन मूल्य है और अगर एक रेगिस्तान में पड़े हो और धन का ढेर भी आपके पास हो एक चुल्लू पानी भी उससे नहीं मिल सके उसका कोई वास्तविक मूल्य भी नहीं है उसका मूल्य काल्पनिक है और समझौते पर निर्भर है सुना है मैंने एक फकीर एक सम्राट से कह रहा था तूने बहुत धन इकट्ठा कर लिया लेकिन अगर मरुस्थल में तू प्यासा मरता हो तो एक गिलास पानी के लिए इसमें से कितना नहीं दे सकेगा तो सम्राट ने कहा अगर मर ही रहा हूं तो सारा साम्राज्य भी दे दूंगा एक गिलास पानी के लिए जो जिस साम्राज्य का मूल्य एक गिलास पानी में भी चुकाना पड़ सकता हो उसमें मूल्य ही कितना होगा कोई रूप के लिए जी रहा है सौंदर्य के लिए जी रहा है पानी पर पड़ी लकीर जैसा है अभी है और अभी नहीं हो जाए और जिसे हम सुंदर पाते हैं आज कल वो कुरूप हो जाए और जिसे हम युवा पाते हैं वो अभी बूढ़ा होता चला जा रहा है शरीर तो बिल्कुल पानी की लहर है उस पर जो प्रतिबिंब भी बनते हैं बस पानी पे बने प्रतिबिंब है जरा सी हलचल और सब खो जाता है जिस शरीर में हमें सौंदर्य दिखाई पड़ता है उसमें कितनी शाश्वतता है वो कितनी देर टिकेगा और जो टिकता ही नहीं वो था भी इसका निश्चय करना मुश्किल है क्योंकि जिन्होंने जाना है वे कहते हैं कि जो है वो सदा है और सदा रहेगा और जो अभी है और कल नहीं हो जाता है समझना कि वो था ही नहीं तुम्हें भ्रांति हो गई थी कि वो है क्योंकि सत्य तो नष्ट नहीं होता भ्रांतियां ही नष्ट होती रात एक सपना देखा सुबह नहीं हो जाता आप सपना क्यों कहते हैं रात जिसे देखा था उसे क्योंकि जब देख रहे थे तब तो वो बड़ा सत्य था तब तो जरा सा भी संदेह न उठता था रंज मात्र भी मन में ऐसा ख्याल न आता था कि जो मैं देख रहा हूं वो असत्य होगा कि स्वप्न होगा तब तो पूरा यथार्थ था और अगर सपने में आपकी प्रेसी मर गई थी या प्रिजन मर गया था तो आप रोए थे और वे आंसू सच्चे थे वे इतने सच्चे भी हो सकते हैं कि जाग के भी आंखें आप अपनी गीली पाए कि स्वप्न में आप सम्राट हो गए थे तो जो आनंद मिला था वो वस्तुता सम्राट होकर जो आनंद मिलेगा उसमें रत्ती भर भी तो फर्क नहीं स्वप्न जब है तब तो बिल्कुल सत्य मालूम पड़ता है सुबह फिर उसे आप स्वप्न क्यों कह देते क्योंकि वो टूट गया क्योंकि अब वो नहीं है और जो इतनी जल्दी नहीं हो गया वो रहा ही ना होगा लेकिन जिसे हम जीवन कहते हैं उस जीवन के सपने से भी कुछ लोग जाग जाते हैं ये वाणी उन्हीं जागे हुए लोगों की है और तब हम जिसे जीवन कहते हैं उससे जाग के वो हैरान होते हैं और पाते हैं कि वो भी सपना था तो इस पूरब ने इस भूमि पर एक सूत्र सत्य का खोजा और वो सूत्र ये था जो किसी भी अवस्था में चित्त की चैतन्य की किसी भी अवस्था में समाप्त नहीं होता नष्ट नहीं होता वही सत्य चेतना की हर स्थिति में जो बना रहता है चाहे आप सोएं चाहे स्वप्न देखें चाहे जागें चाहे समाधि में प्रविष्ट हो जाएं चाहे निर्वाण को उपलब्ध हो जाएं जो हर स्थिति में सत्य होता है चैतन्य की स्थितियों से जिसमें कोई भेद नहीं पड़ता उसे हमने शाश्वत कहा है और जब तक हम उसे नहीं पा लेते तब तक हम धन के नाम पर कंकड़ पत्थर बटोर रहे हैं और जब तक हम उसे नहीं पा लेते तब तक हम सौंदर्य के नाम पर बच्चों का खेल कर रहे हैं और जब तक हम उसे नहीं पा लेते तब तक हमें प्रेम का कोई भी पता नहीं हो सकता तब तक सब झूठ है हम झूठे आदमी हैं और ये जो झूठा आदमी है परिवर्तन के आसपास निर्मित होता इसका नाम ही छाया है इसे थोड़ा समझ लें आपको भी आपकी छाया से कई दफा मिलना हो जाता है कई बार आप लोगों से कहते हैं मैंने अपने बावजूद ऐसा किया मैं नहीं करना चाहता था फिर मैंने ऐसा किया ये मैं नहीं कहना चाहता था और मैं कह गया फ्रायड ने बड़ी खोज की लोग कहते हैं जबान चूक गई लेकिन फ्रायड ने इस पर बड़ा काम किया और उसने कहा जबान भी ऐसे ही नहीं चूकती है जब आप भूल से भी कुछ कहते हैं तब वो भी बहुत गहरा सोचने जैसा है कि वैसा भी क्यों हुआ उसके होने के पीछे आपकी छाया आपने एक झूठा व्यक्तित्व अपने भीतर बना रखा है बच्चा पैदा होता है और झूठ निर्मित होना शुरू हो जाता है छोटे छोटे बच्चे राजनीतिज्ञ हो जाते हैं बच्चा समझ लेता है कि मां मुस्कुराने से प्रसन्न होती है मुस्कुराता हूं तो दूध देती है मुस्कुराता हूं तो खिलौने ले आती तो बच्चे के भीतर कोई मुस्कुराहट भी ना हो तो भी वो मुस्कुराता है ये झूठ शुरू हो गया जो उसके भीतर नहीं है वो बाहर दिखा रहा है इसको मैं राजनीति कहता हूं ये बच्चा पॉलिटिशियन हो गया ये राजनीतिक हो गया जो इसके भीतर नहीं है अब ये खेल कर रहा है ये जानता है कि अगर मैं रोता हूं परेशान होता हूं चिढ़ता हूं चिल्लाता हूं चीखता हूं मां नाराज होती अभी मनस्वित कहते हैं कि बच्चे का चीखना चिल्लाना उसके लिए बहुत स्वास्थ्यकारी है और जो बच्चे बचपन में नहीं चीख चिल्ला पाते तूफान नहीं मचा पाते नाराजगी नहीं प्रकट कर पाते वो सदा के लिए मन से रुग्ण हो जाते क्योंकि ये चीखना चिल्लाना बच्चे का रोना एक गहरी प्रक्रिया है ये दुख विसर्जन का उपाय है बच्चा जब दुखी होता है तो उसको विसर्जित कर लेता है वो रो लेता है चिल्ला लेता है कभी एक बच्चे के साथ प्रयोग करें और आप चकित हो जाएंगे बच्चा रो रहा हो तो ना तो आप उसे डांटें न उसे थपथपाएं समझाएं शांति से उसके पास बैठे रहें ध्यान पूर्वक उसको देखते रहे प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक लेकिन न तो उसे रोकें कि वो न रोए और न उसकी सिर को थपथपा के सुलाने की कोशिश करें क्योंकि वो भी तरकीब है कि वो न रोए उसे खिलौना भी मत दें क्योंकि वो भी तरकीब है आप रुष्पत दे रहे हैं उसका मन भी ना हटाएं कि देख उस दरख्त पर एक सुंदर चिड़िया बैठी वो भी आप उसको अपने नैसर्गिक मार्ग से हटा रहे हैं आप सिर्फ शांत बिना क्रोध हुए क्योंकि आपका क्रोध भी बच्चे के लिए दमन हो जाए आपका फुसलाना समझाना भी उसको उसकी निसर्गता से हटाना हो जाए आप शांत प्रेमपूर्ण बच्चे पर ध्यान भर देते रहे और आप चकित होंगे एक अनूठा अनुभव आपको होगा और अनुभव यह होगा कि जब तक आप बच्चे को प्रेमपूर्वक ध्यान देंगे वो दिल खोल कर रोएगा चीखेगा जैसे आप ध्यान हटाएंगे वैसे बच्चा ख्याल रखेगा कि आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे आप ध्यान देते जाएं और प्रेम पूर्ण बच्चा थोड़ी देर रोता रहेगा जोर से रोएगा चिल्लाएगा फिर हल्का हो जाएगा मुस्कुराने लगेगा प्रसन्न हो जाएगा और ऐसी प्रसन्नता बच्चे के चेहरे पर आएगी जो राजनीति की नहीं है वो आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं अब हंस रहा है अब ये हंसी उसके दुख के विसर्जन से आ रही वो हल्का हो गया वो जो रो के चिल्ला के उसने फेंक दिया कितनी देर रोएगा बच्चा थोड़ा प्रतीक्षा करे कितनी देर रोएगा रोने दे मगर ये प्रेमपूर्ण प्रतीक्षा और ध्यान जरूरी है क्योंकि बच्चा बहुत सचेतन होता है कि आपका जरी ध्यान हटा तो वो जानता है आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं और आपकी उपेक्षा उसके लिए दमन बन जाती मनस्विद कहते हैं नवीनतम खोजें ये हैं कि अगर सब बच्चों को हम इस भांति बड़ा कर सकें कि जब वे रोते हों चिल्लाते हों चीखते हों तब हम उन्हें सहयोग दे सकें शांत तो इस दुनिया में बात की दुनिया में विक्षिप्तता बहुत कम हो जाएगी आप सबके भीतर रोना दबा है चीखना दबा है वो सब रुक गया है वो अवरुद्ध हो गया है इसलिए ध्यान में मेरा इतना जोर है कि आप निकाल डालें तो आप पुनः बच्चे की तरह हल्के और सरल हो जाए लेकिन डर लगता है क्योंकि बचपन से जिसे दबाया है अब तो आप बहुत होशियार हो गए जब बहुत होशियार न थे तब काफी होशियारी की और तब राजनीति के दांव अपने साथ खेले तो अब तो आप बहुत होशियार हो गए अब तो आप जानते हैं कि अगर मैं चिल्लाया तो कहीं मेरे गांव में खबर ना हो जाए यह आदमी वहां रो रहा था कहीं मेरी पत्नी ना नहीं देख ले कि अरे तुम जो इतने दबंग और इस भांति रो रहे थे वो हमने जो जाल बुन रखा है अपने आसपास उससे एक झूठी छाया निर्मित हो गई सैडो पर्सनैलिटी वो झूठी जो हमारे पास व्यक्तित्व की एक धारा चारों तरफ हमारे खड़ी है वो जो हमारी छाया है वो जब हम नहीं हंसना चाहते तब हंसाती है जब नहीं रोना चाहते तब रुलाती है जब रोना चाहते हैं तब मुस्कुराती है वो सब विक्षिप्त है वो 24 घंटे हमारे साथ है और वो हमारी छाती पर बैठ गई इसको हम अहंकार कहें तो हर्ज ना होगा मनस्वित कहते हैं कि इस छाया के कारण ही पूरी पृथ्वी पागल होती जा रही है जितना सभ्य समाज हो उतना पागलपन बढ़ जाता है और जितना असभ्य समाज हो उतना कम होता है पागलपन ठीक असभ्य समाज में पागल होते ही नहीं सभ्यता के साथ विक्षिप्तता आती है शायद सभ्यता ही बहुत गहरे में विक्षिप्तता का मूल्य मूल है आधार है जड़ क्यों सभ्य होने के साथ विक्षिप्तता क्यों आती आप बढ़ जाते हैं आप दो हो जाते वो जो नैसर्गिक है आपके भीतर स्वाभाविक है उसके ऊपर एक आरोपित संस्कारित व्यक्तित्व बैठ जाता है फिर वही आपको चलाता है आप अपने को जरा देखें 24 घंटे निरीक्षण करके तो आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल अस्वाभाविक हैं झूठ है एक नाटक है और यह भी पता चल जाए कि आप एक नाटक हैं तो भी बड़ी समझ आ जाए आप समझते हैं कि नहीं ये नाटक नहीं ये जिंदगी यहां भूल हो रही यह भी ख्याल में आ जाए कि ठीक है एक झूठ है जो मैं चला रहा हूं लेकिन होश पूर्वक तो भी आप सत्य के निकट पहुंचने लगे जुंग ने भी इसे सैडो कहा है छाया कहा है हर आदमी के पीछे लगी है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है छाया बड़ी होती जाती सख्त और मजबूत और ग्रस लेती है सब तरफ से और आत्मा सिकुड़ जाती बच्चे के पास तो थोड़ी बहुत आत्मा होती बूढ़े के पास कहा होती लेकिन हम मानते हैं कि बूढ़े के पास अनुभव होता है समझ होती है ये छाया ये छाया ही उसका समझ और अनुभव है इसलिए जीसस ने अगर कहा कि वे ही लोग मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश पा सकेंगे जो बच्चों की भांति सरल है तो ठीक कहा अगर आप बूढ़े हो गए हैं सभी बूढ़े हो गए हैं बच्चा पैदा होते से बूढ़ा होना शुरू हो जाता कई उम्र के बूढ़े हैं कुछ कम उम्र के बूढ़े हैं कुछ ज्यादा उम्र के बूढ़े हैं कुछ अभी छोटे बूढ़े हैं कुछ बड़े बूढ़े सब बूढ़े हैं क्योंकि पैदा होते ही चारों तरफ जो झूठ का संसार है वो जो और छाया वाले लोग हैं वे चारों तरफ खड़े हुए एक बच्चा उन्हीं के बीच जो पैदा होता है उस बच्चे को कभी पता भी नहीं चलता ऐसा हुआ कि अमेजान नदी के किनारे पहली दफा आज से कोई सौ वर्ष पहले एक कबीले का पता चला उस कबीले में जाके ख्याल में आया कि पूरा कबीला मलेरिया से बीमार पूरा कबीला सब बच्चे बिना मलेरिया के पैदा होते हैं उस कबीले में भी लेकिन पैदा होते से मलेरिया पकड़ जाता है क्योंकि पूरा कबीला बीमार है और चारों तरफ मच्छर है मलेरिया के कीटाणु उस कबीले को पता ही नहीं कि मलेरिया कोई बीमारी क्योंकि जब सभी बीमार हों तो बीमारी नॉर्मल हो गई तो वो कबीला मान के निकलता है कि ऐसा तो होता ही है जीवन ये बीमारी तो जीवन के साथ ही जुड़ी है और जब सभी बच्चे पैदा होते से बीमार हो जाते हो तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि वो बीमार है वो इस बीमारी को ही स्वास्थ्य समझ लेते आधा आधा जीते हैं अधूरे मरे मरे जीते लेकिन यही स्वास्थ्य है क्योंकि और स्वास्थ्य का कोई मापदंड भी तो नहीं है जिससे तुलना की जा सके मनस्विद कहते हैं कि हम सारी की सारी पृथ्वी विक्षिप्त है और अगर मंगल ग्रह से कभी या किसी और किसी ग्रह से कभी कोई दूसरा चैतन्य प्राणी इस पृथ्वी पर आए तो शायद हमें पता चले कि हम सब विक्षिप्त हैं और हम पैदा होते ही हो जाते सब बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं और होने के बाद रोग पकड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि बाप भी बीमार है माँ भी बीमार है परिवार बीमार है समाज बीमार है देश बीमार है पूरी मनुष्यता बीमार है और सब तरफ विक्षिप्तता के कीटाणु है ये जो एक बीमार आदमी आपके भीतर पैदा हो जाता है वो है आपकी छाया और उसको आप इतने जोर से पकड़ लेते हैं कि आप समझते हैं यही आपकी आत्मा है तो फिर छूटना मुश्किल हो जाता है ये सूत्र कहता है अंतिम द्वार पर पहुंचने के पहले तुझे अपने मन से अपने शरीर को अलग करना सीखना है छाया को मिटा डालना है और शाश्वत में जीना है छाया मिटे तो ही शरीर और आप अलग है इसका पता चलेगा नहीं तो इसका पता ही नहीं चलेगा छाया के कारण पता ही नहीं चलता कि आप कौन है एक भ्रांत इकाई लगती है कि ये मैं हूं तो आपकी वास्तविक इकाई का कोई पता ही नहीं चलता कि आप कौन आपका शरीर और आपका अस्तित्व अलग है ये तभी पता चलेगा जब आपको अपने अस्तित्व का पता चले तो आपको तत्क्षण दिखाई पड़ेगा कि शरीर आपका अलग है लेकिन लोग उल्टा करने की कोशिश करते हैं लोग ऐसा सोचते हैं कि शरीर अलग है मैं अलग हूं सोचने की जरूरत ही नहीं ये काम सोचने का नहीं और ये निष्पत्ति सोचने से नहीं आती ये कोई तर्क का निष्कर्ष नहीं है कि आप आत्मा है शरीर नहीं ये एक अनुभव है और अनुभव कितना ही विचार है कितने ही विचारों को जोड़े उससे पैदा नहीं होता अनुभव पैदा हो तो विचार पैदा होता है ध्यान रखें विचार से कोई अनुभव नहीं आता अनुभव हो तो विचार आपको पता नहीं है कि आप आत्मा है शास्त्रों से सुना है सदगुरुओं ने कहा है हमने भी सीख लिया है वो सिखावन है वो भी हमारा झूठ है वो भी हमारी छाया का हिस्सा हो गया किसी से भी पूछे तो वो कहता हाँ मैं आत्मा हूं शरीर नहीं और ये उसकी छाया बोल रही है वो स्वयं नहीं बोल रहा हम सत्य भी झूठ के मुंह से बोलते हमारे सत्य भी झूठ है क्योंकि हम झूठ हैं हमसे जो भी होगा वो झूठ हो जाए हमारे छूते ही जैसे मिदास की कथा है कि वो जो भी छूता सोना हो जाता हम उससे भी बड़े कारीगर हम सत्य को भी छूए तो झूठ हो जाता हम जो भी चीज हाथ में ले लें वो झूठ हो जाता हमारे हाथों के कारण कुरान झूठ हो गई बाइबल झूठ हो गई गीता झूठ हो गई वेद झूठ हो गए हमारे हाथों के कारण हम बुद्ध को झूठ कर देते हैं महावीर को झूठ कर देते क्राइस्ट को झूठ कर देते कृष्ण को झूठ कर देते हम जिसे छूते हैं वो झूठ हो जाते हम झूठ हैं और ये हमारी जो छाया है ये जो हमारा झूठा ख्याल है अपने होने का कि मैं ये हूं इसे तोड़ने के लिए कुछ करना पड़े सोचने से नहीं होगा सोचने से इसलिए नहीं होगा कि सोचने पर तो कब्जा कर रखा है आपकी छाया ने वो तो आपको वही सोचने का मौका देती है जिससे उसको पोषण मिलता है उसे ही तोड़ना है तो फिर सोचने से नहीं हो पाएगा आपको कुछ करना पड़े अस्तित्वगत एग्जिस्टेंशियल इसलिए ध्यान पर मेरा इतना जोर है और मेरा ही नहीं जो भी आपको अस्तित्व में ले जाना चाहता है उसका जोर ध्यान पर होगा और जो आपको विक्षिप्तता में ले जाना चाहता है उसका जोर विचार पर होगा मैं आपको अच्छा आदमी नहीं बनाना चाहता क्योंकि अच्छा आदमी तो उसी छाया का हिस्सा है मैं तो आपको प्रमाणिक आदमी ऑथेंटिक अच्छा नहीं अच्छे बुरे की बात ही व्यर्थ है सच्चा चोखा खालिश शुद्ध शुभ नहीं शुद्ध निर्दोष सीधा साफ नैसर्गिक जैसा लाओस से कहता है सरल बच्चे की भांति वैसा आदमी वैसा आदमी विचार से नहीं जन्मता विचार तो हमारे भीतर सभी चीजों को आड़ा तिरछा कर देता है जैसे पानी में एक डंडे को डालें डालते ही पानी में डंडा तिरछा दिखाई पड़ने लगता होता नहीं तिरछा बाहर निकालें सीधा है ऐसा नहीं कि बाहर निकल के फिर सीधा हो जाता है और भीतर जाकर तिरछा हो जाता है पानी तिरछा नहीं कर सकता लेकिन पानी में पानी के माध्यम में हर चीज तिरछी होकर दिखाई पड़नी शुरू हो जाती विचार का जो माध्यम है वहां हर चीज तिरछी हो जाती ध्यान के माध्यम में चीजें वैसी दिखाई पड़ती हैं जैसी हैं और विचार के माध्यम में वैसी दिखाई पड़ती हैं जैसा आप देखना चाहते हैं आप उनको आड़ा तिरछा कर लेते अपने अनुकूल कर लेते हैं ख्याल रहे विचार में आप जो भी देखते हैं उसे आप अपने अनुकूल कर लेते हैं और आप अगर गलत हैं तो सब गलत हो जाता है ध्यान में आप वही देखते हैं जैसा है और आपको उसके अनुकूल होना पड़ता है विचार में सब कुछ आपके अनुकूल हो जाता है ध्यान में आपको अस्तित्व के अनुकूल होना पड़ता है इसलिए ध्यान रूपांतरण हो जाता है छाया को मिटा डालना है और शाश्वत में जीना है कैसे मिटेगी ये छाया तीन बातें ध्यान रखनी जरूरी है एक तो इसका ख्याल रहे कि ये मैं नहीं बोल रहा हूं मेरी छाया बोल रही ये मैं नहीं कर रहा हूं मेरी छाया कर रही ये मैं नहीं मुस्कुराया मेरी छाया मुस्कुराई इसका सतत स्मरण रहे तो आपके और आपकी छाया के बीच अंतराल बढ़ता जाएगा यह स्मरण ही अंतराल बन जाएगा दूसरी बात ये जो छाया है आपकी जो जगह जगह प्रकट हो जाती है अच्छा हो इसे एकांत में प्रकट कर लें बजाय इसे संबंधों में प्रकट करने के क्योंकि तब संबंध जटिल हो जाते मेरा अनुभव है कि आप रोज 24 घंटे के जीने में कुछ क्रोध इकट्ठा कर लेते हैं जैसे आदमी धूल इकट्ठी कर लेता है रोज स्नान कर लेते हैं लेकिन क्रोध के लिए आप रोज क्या करते धूल इकट्ठी होती है शरीर को धो डालते हैं वस्त्र बदल लेते हैं लेकिन मन पर भी धूल इकट्ठी होती है चौबीस घंटे के जीने में धूल इकट्ठी होनी स्वाभाविक है इस मन की धूल के लिए आप क्या करते हैं वो इकट्ठी होती चली जाती और तब उसकी परतें जम जाती और फिर वे परतें टूट टूटते गिरने लगती और वे अकारण असमय में कहीं भी गिर जाती उनका ध्यान रखें वो आपकी छाया की परतें हैं जो बहुत भारी हो गई और जिनको ढोना मुश्किल है कभी आपने ख्याल किया आप आकस्मिक अचानक अपने को क्रोधित अनुभव करते हैं या बहाना बहुत छोटा होता है क्रोध बहुत ज्यादा कर लेते हैं जहां सुई से काम चल जाता वहां एकदम तलवार निकाल लेते कभी आपने देखा कि ये ये कैसे हो जाता है ये सुई से काम चल जाता वहां आपने तलवार कैसे निकाल ली और सबको दिखाई पड़ता है कि ये जरा जाती है आपको भर नहीं दिखाई पड़ता कारण यह है कि आपको सुई से मतलब नहीं आप तलाश में थे कि कहीं कोई मौका कोई अवसर कोई सुविधा मिल जाए और भीतर बड़ी परत इकट्ठी हो गई क्रोध की उससे आप छुटकारा पा लें जिन घरों में बच्चे नहीं होते उन घरों में पति पत्नी ज्यादा लड़ते बच्चे होते हैं तो कम लड़ते क्योंकि बच्चे काफी परत झड़ाने के लिए अवसर बन जाते कोई कमजोर चाहिए जिस पर परत झड़ जाए बड़े परिवार थे संयुक्त परिवार थे तो पति पत्नी में कलह बहुत कम होती थी क्योंकि कलह के लिए और लोग भी थे पति पत्नी अक्सर संयुक्त परिवार में मित्र होते क्योंकि उनके कामन इनिमी होते जिनसे वो मिलकर लड़ते सास है ससुर या कोई और है लेकिन अगर पति पत्नी अकेले रह जाएं फिर झंझट हो जाती अगर आज अमेरिका में इतना ज्यादा तलाक है तो उसका कारण अमेरिका नहीं है संयुक्त परिवार का विसर्जित हो जाए वो जो क्रोध की परतें इकट्ठी होती हैं वो कहां निकलेंगी वो तो जो निकट है उसी पर गिरेंगी जो निकटतम है उसी पर गिरेंगी फिर बहाने की तलाश रहती है कोई बहाना मिल जाए और हम निकाल लें इससे सारे संबंध विकृत और विषाक्त हो जाते नहीं ये योग्य नहीं है अगर आपका शरीर गंदा है तो आप एकांत में स्नान कर लेते इसके लिए आप बाजार में खड़े होकर शोरगुल नहीं मचाते ध्यान स्नान है अंतस का वो जो रोज रोज इकट्ठा हो जाता है उसे आप एकांत में ध्यान में विसर्जित करते लोग मुझसे आके पूछते हैं आज एक मित्र ने आके पूछा कि क्या कैथारसिस बिल्कुल जरूरी है क्या ये रेचन इतना आवश्यक है कि हम चिल्लाएं रोएं क्रोधित हों क्या इसके बिना ध्यान न हो सकेगा नहीं हो सकेगा हो सकता होता तो हो ही गया होता वो नहीं हो सका है अब तक उसका कारण यही पढ़ते हैं और एकांत में झड़ाने में हमें कठिनाई मालूम पड़ती है क्योंकि इरेशनल अतर्क मालूम होती है बात अगर किसी ने गाली दी तो क्रोध करने में योग्य मालूम पड़ता है कि गाली दी इसलिए क्रोध कर रहे हैं और यहां मैं ध्यान में आपसे कहता हूं क्रोध को निकल जाने दें तो आपको बड़ी मुश्किल मालूम पड़ती किस पे निकल जाने दें कोई उपद्रव कर भी नहीं रहा कहां निकल जाने दें आपको ये कला सीखनी पड़ेगी किसी पर क्रोध फेंकने की जरूरत नहीं है यह खाली आकाश बड़े प्रेम से आपके क्रोध को स्वीकार कर लेता है और मजा यह है कि अगर किसी आदमी पे आपने क्रोध निकाला तो वहां से भी क्रोध निकलेगा वहां भी ज्वालामुखी वो भी आप ही जैसा आदमी वो भी तलाश में है आप ही थोड़ी तलाश में ये मुलाकात दोनों के लिए संगत है इसलिए बुद्ध ने कहा है क्रोध से क्या होगा और क्रोध आएगा फिर और क्रोध करना पड़ेगा उसकी श्रृंखला का तो कोई अंत नहीं है हमें तो दिखाई नहीं पड़ता इसलिए हमें श्रृंखला नहीं दिखाई पड़ती नहीं तो हम जन्मों जन्मों तक एक दूसरे से बंधे हुए क्रोध करते रहते जिससे आप पिछले जन्म में लड़े हैं उससे आप आज भी लड़ रहे हैं चलता रहता है संघर्ष लंबी यात्रा बन जाती है श्रृंखला बन जाती कड़ियां बन जाती तो दूसरे पर क्रोध करने से कुछ हल न होगा लेकिन खुले आकाश में क्रोध को विसर्जित कर दे दूसरे का ध्यान ही ना रखे अपना ही ध्यान रखें कि मेरे भीतर क्रोध है मैं इसे बाहर कर दू शून्य में और शून्य की छाती बड़ी है शून्य आपके क्रोध को वापस नहीं करता आपके क्रोध को आत्मसात कर जाता है पी जाता है इसलिए हमने शंकर के गले में नीला रंग डाला है वो जहर पीने की प्रतीक है वो परमात्मा हमारा सारा जहर पी लेता है वो नीलकंठ है वो चारों तरफ मौजूद है हम उसे सब जहर दे दें बेफिक्र वो जहर उसे नुकसान भी नहीं करेगा सिर्फ उसका कंठ नीला हो जाएगा और सुंदर लगेगा ध्यान में रेचन अनिवार्य है क्योंकि वो स्नान है भीतर का क्रोध भी शून्य में डाल दे दुख भी पीड़ा भी संताप भी चिंता भी और इसको सिर्फ मन से ही ना करें इसको पूरे शरीर से प्रकट हो जाने दें क्योंकि हमारा शरीर भी ग्रसित हो गया है आपको पता नहीं क्योंकि हम शरीर के इतने अनभिज्ञ हो गए हैं आत्मा तो बहुत दूर है हमें शरीर की भी कोई भिज्ञता नहीं है हमें यह भी पता नहीं कि हमारे शरीर में क्या हो रहा हम क्या कर रहे हैं आपको पता है मनस्वित कहते हैं कि जो लोग क्रोध को पी जाते हैं उनके दांत जल्दी खराब हो जाते अब दांत से क्रोध का क्या लेना देना लेकिन लेना देना है क्योंकि क्रोध जब आप करते हैं आपने ख्याल किया आपके दांत पिसने चाहते हैं आपके दांत किसी चीज को पकड़ना और काटना चाहते हैं अगर आप ठीक क्रोध में भर जाए तो आप काट ही खाएंगे छोटे बच्चे काट लेंगे स्त्रियां काट लेंगी पुरुष नहीं काटता तो अहंकार के बस तबीयत तो उसकी भी होती वो भी काट ले क्योंकि हमारे पीछे करोड़ों वर्ष का जानवरों का इतिहास है पशु तो जब क्रोधित होता है तो दांत से ही चीरेगा फाड़ेगा नखून और दांत दो चीजें दो ही उसके पास हथियार आदमी ने और हथियार बना लिए इसलिए दोनों हथियार बेकार हो गए लेकिन शरीर की प्रक्रिया अब भी पुरानी है जैसे ही क्रोध आता है आपके नखूनों की तरफ और दांत की तरफ जहर फैलना शुरू हो जाता है आपके खून में जहर की ग्रंथियां काम शुरू कर देती और वो आपके नखून और आपके दांतों की तरफ दौड़ने लगता है उसे कुछ भी पता नहीं आपके पास शरीर तो पशु का ही है उसकी सारी व्यवस्था पशु की वो वैसे ही काम करता है जैसा तब काम करता था जब आप दांत से भर लेते गला दुश्मन का नखून से उसका पेट फाड़ डालते अब भी आपका शरीर वैसे काम करता है लेकिन अब आप न तो दांत का उपयोग करते हैं ना नखून का आपने और कुशल दांत और कुशल नखून निकाल लिए हम हाइड्रोजन बम तक पहुंच गए हमने काफी लंबी यात्रा कर ली लेकिन हमारे जहर में जो हमारे भीतर पैदा रहा उसको हाइड्रोजन बम तो पी नहीं सकता वो आपके शरीर में भर जाता है विलियम रैक ने जिन लोगों को क्रोध की आदत है उनके दांत के मसूड़े वो दबाता था और दबाते से वो आदमी चीखने लगता और क्रोधित हो जाता विलियम रैक को अपने आसपास दो आदमी रखने पड़ते थे मरीज का जब वो इलाज करता थे क्योंकि वो आदमी जब ठीक क्रोध से भर जाता तो जो आदमी निकट होता विलियम रैक उसी पे हमला करते थे तो दो उसको सुरक्षा के लिए आदमी रखने पड़ते थे ये सब आपके भीतर भरा है ये मैं किसी और के संबंध में नहीं कह रहा हूं ये बात आपसे हो रही है निपट आपसे सीधी मन करता है कि किसी और के बाबत कह रहे हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहां दूसरे की चर्चा ही नहीं आपसे सीधी सीधी बात हो रही है ये सब भी निकल जाना जरूरी है तभी आप हल्के हो पाएंगे तो जब ध्यान के लिए मैं कहता हूं कि आप अपने शरीर को विक्षिप्त हो जाने दें तो मेरा प्रयोजन है आपके शरीर में जहां जहां दबा है क्रोध दबी है हिंसा दबा है मनुष्य दबे हैं न मालूम कितने जहर घृणा के वो सब निकल जाने थे आप हल्के हो जाएंगे और उस हल्केपन में आपको पहली दफा भीतर के स्नान का पता चलेगा ध्यान भीतर का स्नान है और रेचन अनिवार्य है तभी आगे यात्रा हो सकती हम मंदिर जाते हैं तो स्नान करके जाते हैं कोई नहीं पूछता कि स्नान करके जाने की क्या जरूरत है जा सकते हैं मंदिर आप बिना स्नान किए भी लेकिन तब मंदिर में आप हो भी आएंगे लेकिन मंदिर में प्रवेश ना होगा क्योंकि मंदिर में प्रवेश के लिए जो अपने को थोड़ा भी स्वच्छ करके नहीं गया है और आशा में गया होगा कि मंदिर उसे स्वच्छ कर दे वो ना समझ जो हम मांगते हैं अस्तित्व से उसकी हमें तैयारी चाहिए और हमें वही मिल सकता है जिसके लिए हम तैयार होकर गए लेकिन ये बाहर का स्नान तो ठीक है भीतर का स्नान अत्यंत जरूरी है मंदिर में जाने के पूर्व और भीतर आपने इतने रोग इकट्ठे कर रखे और जब मैं कहता हूं रोग तो मैं कोई कोई उपमा का उपयोग नहीं कर रहा हूं कोई प्रतीक नहीं कर रहा हूं ठीक यही शाब्दिक अर्थ है मेरा रोग इकट्ठे कर रखे हैं अभी तो जाना गया है कि आदमी के 50 से 90 प्रतिशत रोग उसके मन से पैदा हो रहे हैं लेकिन परिणाम शरीर में होते हैं क्योंकि मन से जहर धीरे धीरे शरीर में रिस जाता है भर जाता है और शरीर में दूरगामी यहाँ जो ध्यान में रेचन का हम प्रयोग कर रहे हैं अगर आप हृदय पूर्वक कर सकें तो आपका मन तो शुद्ध होगा ही आप पाएंगे कि आपका शरीर भी स्वास्थ्य के नए आयाम आप पा सकते हैं कि बहुत सी बीमारियां अचानक गिर गईं आपके रेचन के साथ वो जो आपको जकड़े हुए थे बहुत से रोग वो अचानक विदा हो गए अब जिससे उदाहरण के लिए कहता हूं अगर आपको अस्थमा है तो उसका अर्थ है कि श्वास और मन में कहीं ना कहीं कोई संबंध विकृत हो गया है कहीं ना कहीं कोई संबंध टूट गया है कोई अड़चन आ गई अगर ये गहरी श्वास का आप ठीक से प्रयोग कर सकें तो वो अड़चन टूट जाएगी वो गिर जाएगी अगर आपको सिर में दर्द बना रहता है तो उसका अर्थ है कि सौ में नब्बे मौके तो ये हैं कि कुछ ऐसी चिंताएं घर कर गई हैं जो कीड़े की तरह सिर को भीतर खाए चली जाती है और आप बोझिल हो गए हैं भारी हो गए अगर वे चिंताएं गिर जाएं तो आप अचानक पाएंगे कि आपका सिर हल्का हो गया भीतर जैसे कोई बोझ था सदा का वो हट गया जैसे कोई खिली ठोके जा रहा था भीतर वो बंद हो गई आपके शरीर में जो भी घट रहा है उसके कहीं न कहीं सूत्र आपके मन में है और आपके मन में जो घट रहा है वो शरीर से जुड़ा है ये रेचन अगर हो पाए तो ही आपको पता चल सकेगा कि आप कुछ और हैं और शरीर कुछ और क्यों क्योंकि इस रेचन के होते ही आपके और शरीर के बीच जो हजार तरह के गठबंधन हो गए हैं रोगों के वो टूट जाएंगे आप रोगों के कारण शरीर से जुड़े आपको शरीर से जोड़ने का जो मौलिक संधि है जोड़ है वो रोग है हमने अपने मुल्क में उसे कर्मों की श्रृंखला कहा है पापों की श्रृंखला कहा है जिससे हम शरीर से जुड़े उसे नई भाषा में हम रोग कह सकते हैं बीमारी कह सकते हैं हमने ऐसा जाना है इस देश में कि हम बीमार हैं इसलिए शरीर में है जिस दिन हम बीमार ना होंगे उस दिन हम शरीर में ना होंगे इसलिए इस मुल्क की हजारों हजारों साल की प्रार्थना रही है कि हे प्रभु कब आवागमन से मुक्ति होगी आवागमन से मुक्ति का अर्थ है कि कब वो क्षण आएगा जबकि बांधने वाला एक भी रोग शरीर से न रह जाएगा और मेरी नाव शरीर से पूरी तरह छूट जाएगी कहीं भी किनारे से कोई रस्सी बंधी ना होगी और तब मेरी नाव अनंत की यात्रा पर निकल जाएगी ये ध्यान के अतिरिक्त न कभी हुआ है न हो सकता है और जितना ज्यादा आप सभ्य हो गए हैं उतने ही ज्यादा रेचन की जरूरत है वो सभ्यता निकाल के फेंकनी पड़ेगी सभ्यता महारोग है इसलिए तुझे सर्व में जीना और श्वास लेना है वैसे ही जैसे वह सब जिसे तू देखता है तुझ में श्वास लेता है और तुझे सर्व भूतों में स्वयं को और स्वयं में सर्वभूतों को देखना है ये सूत्र बड़ा कीमती है इसे समझें और प्रयोग में लाएं इसके लिए तुझे सर्व में जीना और श्वास लेना है हम जीते हैं अपने में टूटे टूटे सर्व में जीने का क्या अर्थ होगा एक फूल खिला है और आप उसके पास बैठे मन होता है तोड़ो इस फूल को ये आप अपने में जी रहे हैं ये इतना सुंदर फूल खिला है इसे सिर्फ तोड़ने का ही ख्याल पैदा होता है इस फूल में जीने का भाव पैदा नहीं होता कि इतना सुंदर फूल खिला है थोड़ा हम भी इसमें झांके और प्रवेश करें थोड़ा इसमें हम भी जिए शायद तब इसके सौंदर्य की गंध हमें भी छू जाए और तब शायद इसकी पखरियों पर जो ओस जमी है वैसी ताज की हम में भी उतर आए तो फूल के पास बैठ के तोड़ने के भाव का अर्थ है कि फूल से हमें कोई मतलब नहीं हम फूल में नहीं जी सकते हम केवल फूल का परिग्रह कर सकते फूल को हम अपने आसपास जिला सकते हैं लेकिन हम फूल में प्रवेश नहीं कर सकते चांद निकला है तो कभी सोचा कि हम थोड़ा उड़े चांद पर तो अब आदमी पहुंचने लगा लेकिन वे लोग जो चांद पर पहुंच रहे हैं वे भी चांद तक उड़ान नहीं भर सकते चांद पर पहुंच सकते हैं उसमें कोई अड़चन नहीं लेकिन चांद पर उड़ान का अर्थ है कि चांद निकला है आकाश में थोड़ी देर को हम चांद के साथ एक हो जाएं और चांद में जिए और चांद के साथ यात्रा करें आकाश भूल जाए अपने क्षुद्र अस्तित्व को यहाँ उड़ जाए दूर एक काव्य की छलांग लगाए कभी सागर में कभी आकाश में कभी फूलों में कभी पहाड़ों में कभी किसी मनुष्य की आंखों में उतने दूसरे में और दूसरे में थोड़ी देर को जिए अजीब लगता है क्योंकि दूसरे में कैसे उतरे एक गहरी समानुभूति हो तो उतरा जा सकता है जब आप अपने प्रेमी की आंख में झांके तो सिर्फ प्रेमी की आंख में मत झांके उतर भी जाएं साथ उसके भीतर प्रवेश भी कर जाएं शुरू में शायद अड़चन भी मालूम पड़े क्योंकि हम भयभीत हो गए और इसलिए हम एक दूसरे की आंखों में देखने में डरते भी और अशिष्टता समझी जाती है अगर कोई किसी की आंख में ज्यादा झांक के देखे जब तक कि दूसरे से कोई बहुत ही निकट आत्मीयता ना हो नहीं तो कोई झांक के नहीं देखता क्यों क्योंकि दूसरे में उतर जाने का डर है आंख द्वार है अगर उसमें कोई झांक के देखे तो भीतर उतर सकता है अभी पश्चिम में कुछ नई विधियां खोजी गई हैं जिनमें आंखों में झांकना भी एक विधि दो व्यक्ति बैठ जाते हैं और घंटे भर तक एक दूसरे की आंख में झांकते रहते अनूठे अनुभव होते कभी कभी तो जीवन को बदल जाने वाले अनुभव होते क्योंकि अगर एक घंटे तक बिना पलक झपके आप एक दूसरे की आंख में झांकते हैं तो थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी देर के बाद झलक एक क्षण को आती है कि आप लगता है कि अपने में नहीं है दूसरे में इसलिए आंख पर हमने प्रतिरोध लगा रखा है कि कोई किसी की आंख में ना झांके और अगर कोई आदमी आपको झांक के देखे तो आप उसे अशुभन मानते हैं अशिष्ट मानते हैं खतरनाक भी है क्योंकि आंख बहुत संवेदनशील झरोखा है उससे कोई भीतर जा सकता है इसलिए जिसको हमें चाहते हैं कि हमारे भीतर जाए उसी को हम आंख से झांकने देते हैं पर अगर एक दूसरे की आंख में झांकें तो आप एक दूसरे में उतरने का अनुभव कर सकते और एक दूसरे में ऐसे ही उतरना हो जाता जैसे कोई एक गहरे कुएं में उतर रहा हो और दूसरे व्यक्ति में उतर के जानना कि दूसरा क्या है बहुत ही अनूठी प्रतीति है उसके बाद आप वही नहीं होंगे जो आप थे आपका विस्तार हुआ एक्सपेंशन ऑफ कॉन्सियसनेस आपकी चेतना बढ़ी लेकिन व्यक्तियों में ही झांका जा सकता है ऐसा नहीं पशुओं में भी झांका जा सकता है और फूलों में पौधों में भी और फिर पत्थर की चट्टानों में भी और तब ये सारे अस्तित्व में झांका जा सकता और जिया जा सकता है और जब तक आप ये कला ना सीख लेंगे तब तक अहंकार से कोई छुटकारा नहीं अगर आप अहंकार को छोड़ने में लगे तो कभी ना छूटेगा लेकिन अगर आप सर्व में जीने की कला सीख गए तो एक दिन आप अचानक पाएंगे कि वो कहीं छूट गया आपको पता भी नहीं चला कब छूट गया जैसे सांप की कैचुल कहीं छूट गई और बाद में उसे होश आया हो कि कैचुल कहां गई जैसे सूखा पत्ता किसी वृक्ष से गिर गया हो और वृक्ष को पता भी न चला हो वो अपने गहरी शांति में मौन रहा हो सूखे पत्ते की आवाज भी ना आई हो अचानक जब नया पत्ता आ गया हो तब उसे ख्याल में आया हो सूखे पत्ते कहाँ गए ऐसा ही जो दूसरे में झांकना सीख जाता है और सर्व में जीने की कला धीरे धीरे उसका अहंकार कब खो गया उसे पता नहीं चलता और अगर आपको पता चले कि आपका अहंकार खो गया है तो उसका मतलब कि ये एक नया अहंकार पैदा हो गया है कि मैं विनम्र हूं कि मैं निरअहकारी हूं कि मेरा अहंकार नष्ट हो गया है ये कौन कह रहा है ये कौन जान रहा है सर्व में जीना है सर्व में श्वास लेना है वैसे ही जैसे वह सब जिसे तू देखता है तुझ में श्वास लेता है इसका कोई छोटा प्रयोग करें यहाँ कैंप में आप बहुत हैरान हो जाएंगे कल सुबह दोपहर जब मौज आ जाए और जब मन थोड़ा शांत प्रफुल्लित और आनंदित हो और ये भी ख्याल ले लें कि धीरे धीरे आपको अपने मन की एक जानकारी बना रखनी चाहिए कि आपका मन कब प्रसन्न होता है कब आनंदित होता है मन के भी मौसम है और अगर आप ठीक से अपने मन का निरीक्षण एक तीन महीने तक करें तो आप अपनी भविष्य की भी घोषणा कर सकते हैं कि शुक्रवार के सुबह आप अपनी पत्नी को पहले से कह सकते हैं कि तू सावधान रहना कि शुक्रवार के सुबह मैं थोड़ा अशांत होता रहा हूं और वो मौसम आएगा और अगर घर में हर आदमी का कैलेंडर हो तो पूरा घर सचेत हो सकता है और तब बड़ा मौज होगी और बड़ा आनंद आएगा क्योंकि अगर आपको पता है कि शुक्रवार की सुबह पति क्रोधित होंगे तो फिर आपको क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं तब हंसा जा सकता है और अगर पति को पता है कि पत्नी फला संध्या को उपद्रव खड़ा करेगी इसका अगर जाहिर ही है मामला तो फिर मुझसे कुछ लेना देना नहीं है ये वैसे ही है जैसे मेंसिस होता है माहवारी होता है ये वैसे ही है तो इससे कुछ नाराज होने की जरूरत नहीं है इसके भीतरा भीतरी परिवर्तन है व्यक्ति के होते हैं जैसे मौसम बदल जाता वर्षा आ जाती तो हम गाली नहीं देते और धूप निकल आती तो हम जानते हैं कि धूप निकलेगी और रात अंधेरा हो जाता हम जानते हैं कि रात है व्यक्ति भी ऐसे ही तो कल जरा ख्याल लेना जब मन प्रसन्न और आनंदित हो थोड़ा ध्यान की तरफ झुका हो तब एक छोटा सा प्रयोग करना एक छोटे से पत्थर को बड़े प्रेम से उठा लेना अपने हाथ में रख लेना एकांत में बैठ जाना आंख उस पत्थर पर जमा लेना फिर धीरे धीरे गहरी श्वास लेना और एक ही ध्यान रखना देखते रहना देखते रहना पत्थर को कि पत्थर कब श्वास लेना शुरू करता है आप धीरे धीरे श्वास लेते रहना और पत्थर पर आंखें गड़ाए रखना आप चमत्कृत होंगे वो क्षण शीघ्र ही आ जाएगा जब आपको प्रतीति होगी कि पत्थर भी श्वास ले रहा आपकी ही श्वास विस्तीर्ण हो गई पत्थर की भी श्वास है बहुत धीमी है आपकी श्वास जुड़ जाए तो मैग्निफाई हो जाती तो बड़ी हो जाती और तब आपको प्रतीत हो सकती है और अगर आपको पत्थर में श्वास की प्रतीति हो जाए तो आपको महावीर की अहिंसा का पता चले और तब ये सारा जगत आपको श्वास से भरा हुआ प्राण से आंदोलित तब यहां किसी को भी एक पत्थर को भी चोट पहुंचाना मुश्किल हो जाए श्वास लेना वैसे ही जैसे सब जिसे तू देखता है तुझ में श्वास लेता है और तुझे सर्वभूतों में स्वयं को और स्वयं में सर्वभूतों को देखना है ये प्रतीति बढ़ती जाए ये दोहरे तरह से हो सकती है पहले देखना कि पत्थर में आपकी श्वास प्रवेश कर गई फिर इससे उल्टा भी आप अनुभव कर सकते हैं कि पत्थर आप में श्वास लेने लगा लेकिन हमें श्वास की कला का पता नहीं गुरुजीव के संबंध में कहा जाता है कि कभी कभी वो अचानक कुछ लोगों को अजीब तरह के धक्के शौक दे देता था से आप गुरुजीव के पास बैठे हैं गुरुजीव एक बहुत रहस्यवादी संत था आप उसके पास बैठे अचानक आपको लगेगा कि बिना कुछ किए उसने आपकी नाभि पर चोट की और उसने आपको छुआ भी नहीं उसके शिष्य बड़े हैरान थे कि वो करता क्या है उसकी ये चोट बड़ी गहरी हो जाती और तब शिष्यों ने धीरे धीरे निरीक्षण किया कि वो करता क्या है तो निरीक्षण में पाया कि पहला तो काम वो ये करता है कि वो आपके सांस श्वास लेने लगता है जो श्वास आपकी है रिदिम जो गति वैसी गति वो भी श्वास की अपनी कर लेता है और जब दोनों की गति बिल्कुल एक हो जाती तब वो कोई भी विचार करे वो आप में संक्रमित हो जाता ये आप करके देख सकते हैं जब भी किसी व्यक्ति के साथ आपकी श्वास बिल्कुल एक गति हो जाती एक लय में बद्ध हो जाती तब आप भीतर मिल गए तब आप दो प्राण नहीं एक प्राण हो गए और आपकी दो श्वासें एक वर्तुलाकार चक्र बन गई अब आप कोई भी भाव संक्रमित कर सकते हैं कोई भी भाव भीतर प्रवेश हो जाता और ये न केवल व्यक्तियों के साथ पशुओं के साथ पौधों के साथ पत्थरों के साथ सभी के साथ हो सकता थोड़ा कठिन होता है जैसे हम मनुष्य से नीचे जाते हैं क्योंकि हम तो मनुष्य से ही नहीं जुड़ पाते तो पौधे से जुड़ना तो बहुत दूर का नाता है वो भी हमारा परिवार का हिस्सा है क्योंकि हम कभी पौधे थे लेकिन बड़ी लंबी यात्रा हो गई उससे हमारे नाते रिश्ते बहुत दूर के हो गए हम भी कभी पशु थे पर उससे हमारे नाते रिश्ते बहुत दूर के हो गए लंबी है यात्रा और भाषा का बड़ा फासला पड़ गया है आदमी से नहीं जुड़ पाते हम जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके साथ भी हमने कभी एक लयबद्ध सांस का अनुभव नहीं किया है इसे थोड़ा अनुभव करें और इसको थोड़ा फैलाएं ये जैसे जैसे फैलता जाएगा आप तब सूरज को देख सकते हैं और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ही सूरज को देख रहे हैं अगर आपको सर्व के साथ एक होने की थोड़ी सी प्रतीत है तो आपको यह भी लगेगा कि सूरज भी आपको देख रहा है और तब ऐसा नहीं लगेगा कि फूल के पास आप बैठे हैं ऐसा भी लगेगा कि फूल आपके पास बैठा है और ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ही उसको निहारा उसने भी आपको निहारा हमने बड़ी मीठी कथाएं इस संबंध में रची हैं उन कथाओं में लोग कई बार उलझ जाते हैं और मुश्किल में पड़ते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते और धर्म के बहुत सत्य कविता में कहे गए हैं कोई और उपाय नहीं धर्म की भाषा काव्य है विज्ञान धर्म की भाषा नहीं है हो भी नहीं सकता होना भी नहीं चाहिए कोई चेष्टा भी करे तो वो अनुचित है तो हमने कहा है कि महावीर अगर निकलते हैं या बुद्ध अगर निकलते हैं तो असमय में भी वृक्षों पर फूल आ जाते हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि बुद्धि नहीं देखते वृक्ष को वृक्ष भी बुद्ध को देखता है और वृक्ष बेचारा कर भी क्या सकता है इससे ज्यादा कि बुद्ध पास आए हो तो फूल बन जाए फूल वृक्ष की आंखें उनसे वो बुद्ध को निहारेगा कुछ लेन देन होगा दोनों के बीच कुछ मिलन हो जाएगा जरूरी नहीं कि वृक्षों में फूल आए हों असमय में बुद्ध के निकलने पर पर आने चाहिए ना भी आए हों तो आने चाहिए आए भी होंगे शायद उन्हीं को दिखाई पड़े हों जिनका अस्तित्व के साथ इतना तालमेल है शायद हम अंधों को ना भी दिखाई पड़े हो क्योंकि हमको तो वस्तुता भी जब फूल आ जाते हैं तो कहां दिखाई पड़ते हैं जिस वृक्ष के पास से आप रोज गुजरते हैं आपको पता ही नहीं चलता कब वृक्ष जवान था कब वृक्ष बूढ़ा हो गया कब वृक्ष रो रहा था कब वृक्ष हंसता था कब प्रसन्न था और नाचता था कब उदास था जीर्ण जर्जर था दीन था कुछ पता नहीं चलता आप समझते हैं वही वृक्ष खड़ा है वृक्ष में भी सब मौसम आ जा रहे हैं उसके भीतर भी भाव की तरंगे कभी वो भी आनंद से नाचता होता है तब वृक्ष के पास होने का मजा और है कभी वो दुख से उदास और पीड़ित और ढला हुआ होता तब उसके पास बैठ के आप भी उदास हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन किसको मतलब है कौन देखता है वृक्ष तो दूर है घर में ही कौन किसको देखता है पति पत्नी को कि बाप बेटे को कि बेटा बाप को किसी को किसी से प्रयोजन नहीं अपने अपने में बंद कोई खिड़की दरवाजा नहीं सब बंद भागे चले जा रहे हैं कभी कभी किसी से टकरा जाते हैं तो क्षण भर को एक दूसरे का होश आता है मैं एक मनस्वित को पढ़ रहा था उसने बड़ी मजे की बात लिखी और विचार नहीं और सही भी उसने लिखा है कि अगर किसी स्त्री से प्रेम हो उसका हाथ हाथ में लेके अगर थोड़ी देर बैठे रहो और हाथ को थपथपाओ ना तो वो भी भूल जाती है कि आपका हाथ उसके हाथ में इसलिए प्रेमी थपथपाते रहते हैं हिलन डुलन करते रहते हैं थोड़ी क्योंकि उससे पता चलता है उससे थोड़ी टक्कर होती रहती है अगर एक प्रेसी को या प्रिजन को आप छाती से लगा के बैठे रह जाए पंद्रह मिनट तो दोनों ही भूल जाएंगे कि दूसरा है दूसरे का पता ही चलता है कि कुछ उपद्रव जारी रहे कुछ हलन चलन होता रहे सब फिर हो जाए तो हमें पता चलना बंद हो जाता है कुछ उपद्रव चाहिए तो पता चलता है सूरज भी देखता है आपको वृक्ष भी और ये पृथ्वी भी ये सारा अस्तित्व आप में उतना ही उत्सुक है जितना आप इसमें और जितनी आपकी उत्सुकता बढ़ती है उतनी ही उसकी उत्सुकता प्रकट होती चली जाती है और तब एक कम्युनियन एक मिलन एक आलिंगन घटित होता है उस अस्तित्व के आलिंगन का नाम ही समाधि ध्यान से चलना है उस तरफ जहां ये मिलना हो जाए लेकिन अगर आप रोते हुए उदास टूटे हुए हारे हुए हैं तो ये मिलन ना हो पाएगा टूटे हुए हारे हुए से कौन मिलना चाहता है दुखी उदास से कौन मिलना चाहता है क्योंकि वो मिलने का अर्थ है कि वो दुख और उदास आप में उड़ेल देगा ये अस्तित्व आपकी प्रतीक्षा करता है कि किस दिन आप नाचते गाते आनंद से भरे हुए इसके निकट आएंगे उस दिन ये मिलन हो पाएगा सब मिलन आनंद के क्षण में होते हैं और सब बिखराव दुख के क्षण में होते इसलिए दुख में इतनी पीड़ा है क्योंकि दुख में हम अकेले रह जाते हैं और किसी से कोई संबंध नहीं रह जाता आनंद में हम अकेले नहीं रह जाते सारा अस्तित्व अपने पूरे उत्सव के साथ सम्मिलित हो जाता है तू अपने मन को और अपनी इंद्रियों की क्रीड़ा भूमि नहीं बनने देगा तू अपने मन को अपनी इंद्रियों की क्रीड़ा भूमि नहीं बनने देगा तू अपनी सत्ता को परम सत्ता से भिन्न नहीं रखेगा वरन समुद्र को बूंद में और बूंद को समुद्र में डुबा देगा तू डूब जाएगा अस्तित्व में और अस्तित्व को अपने में डूब जाने देगा तू इस प्रकार प्राणी मात्र के साथ पूरी समरसता में जिएगा सभी मनुष्यों के प्रति ऐसा प्रेम भाव रखेगा जैसे कि वे तेरे गुरु भाई हैं एक ही शिक्षक के शिष्य और एक ही प्यारी मां के पुत्र अस्तित्व के प्रति एक परिवार का भाव एक आत्मीयता का भाव हम सबके मन में शत्रुता है हम लड़ रहे हैं हम अस्तित्व को जीतने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कोई दुश्मनी है स्पर्धा है प्रतियोगिता है उसके कारण ही हम दुखी हैं इससे कोई अस्तित्व का नुकसान नहीं होता हम ही कट जाते अलग टूट जाते अजनबी हो जाते अस्तित्ववादी बहुत बात करते हैं कि आदमी अजनबी हो गया स्ट्रेंजर हो गया कोई किया नहीं है उसे अपने हाथ और यह अस्तित्व आपका घर भी बन सकता है आप ही खुल जाएं तो यह अस्तित्व भी खुल जाता है एक सूत्र स्मरण रखें कि जैसे आप हैं वैसा ही ये अस्तित्व आपको प्रतीत होता है ये सब दर्पण है चारों तरफ आप अपनी ही शक्ल देख लेते हैं सुना है मैंने कि सम्राट के महल में एक कुत्ता घुस गया और महल कांचों का बना था और सम्राट ने सारे दर्पण लगा रखे थे दीवानों पर कोई हजार हजार दर्पण लगे थे कुत्ता बहुत मुश्किल में पड़ गया देखा उसने हजारों कुत्ते चारों तरफ खड़े थे डर के भोंका जो डरते हैं वही भोंकते हैं उससे खुद को आश्वासन मिलता है कि हम डरे हुए नहीं बल्कि हम डरा रहे हैं डराने की चेष्टा डर का ही उपाय है दूसरे को डराने वही जाता है जो डरा ही हुआ है भूखा लेकिन अकेला नहीं भोंका सब दर्पण के कुत्ते भी भोंके और घबरा गया हजारों कुत्ते चारों दुश्मन ही दुश्मन से घिर गया भागा दर्पणों की तरफ हमला करने को क्योंकि सुरक्षा का एक ही उपाय आदमी जानता है आदमी भी और कुत्ते भी एक ही उपाय है सुरक्षा का मिकेवेली ने कहा है सुरक्षा चाहिए तो आक्रमण उपाय है उस कुत्ते ने भी मैकेवेली की किताब दी प्रिंस कहीं पढ़ ली होगी उसने हमला किया लेकिन जब आप हमला करेंगे तो दुनिया बैठी रहेगी वो सारे दर्पणों के कुत्तों ने भी हमला किया फिर उस रात वो कुत्ता पागल हो गया हो ही जाएगा सुबह वो मरा हुआ पाया गया और दर्पण में वहां कोई भी ना था अपनी ही प्रतिध्वनि थी इस अस्तित्व के साथ हम जो भाव बना लेते हैं उसकी प्रतिध्वनियां गूंजने लगती देखें शत्रुता से और चारों तरफ शत्रु खड़े हो जाते और देखें मित्रता से और वहां कोई शत्रु नहीं है आप ही फैल के गूंज जाते आप ही अपने को सुनाई पड़ते हैं आपकी ही अनगूंज आप जी रहे हैं तो इस सूत्र कहता है मित्र इस अस्तित्व के साथ विज्ञान और धर्म का यह मौलिक भेद है विज्ञान लड़ता है जीतना चाहता है विजय की उसकी यात्रा है धर्म जीतना नहीं चाहता लड़ना भी नहीं चाहता मैत्री उसका आधार है वो अस्तित्व के साथ एक प्रेम संबंध स्थापित करना चाहता है अस्तित्व के साथ उसका प्रेमी और प्रेसी का नाता है शत्रु का नहीं इसके गहन परिणाम होते हैं क्योंकि जब आप मित्र की तलाश में निकलते हैं तो सारा अस्तित्व मित्रता के हाथ फैला देता है उस क्षण आपको पता लगता है आप अजनबी नहीं और उस क्षण आपको यह भी पता चलता है कि पूरा अस्तित्व एक मां की गोद है और उस समय आपको पता चलता है कि अस्तित्व अकारण ही आपको पैदा नहीं किया है इसके उल्लास में इसके उत्सव में इसके आनंद में आपका जन्म है आप इसके आनंद क्रीड़ा के हिस्से इसलिए हमने कहा है जगत को परमात्मा की लीला उसके आनंद का खेल और हम सब उसके आनंद के खेल की लहरें उसका विस्तार लेकिन इस प्रतीति तक पहुंचने के लिए कि परमात्मा की लीला है ये जगत हमें कुछ आधार भूमियां बनानी पड़ती उन आधार भूमियों में ये सूत्र ख्याल में रखना जरूरी है there are two attitudes towards existence one of enmity, conflict, struggle, the attitude of conquering the world, nature, universe. On this attitude, the whole scientific edifice is based. Science is struggle. A violent struggle with nature. Destructive. Religion is based on the quite contrary attitude. The approach of friendliness, of love. The nature is not to be conquered because we are part of it. And it is absolutely absurd that the part should try to conquer the whole. It is impossible. And ultimately only the part will suffer, not the whole. The whole effort is foolish, is stupid. Religion says we are part of nature the nature is the whole. The effort to conquer it is bound to create hell for you. Rather, surrender to it. Rather, be in a deep sympathy, sympathy with it. Be deeply involved in a family relationship with it. Love must be the attitude. And this is the miracle. It looks paradoxical. That when you try to conquer it, you never conquer it. Only in the effort you are destroyed and you create misery, anguish, anxiety for yourself. You become an outsider. Then this universe is not a home for you. Then this universe is not a mother. And you suffer. You become motherless. When you love, when the approach is of love and not of violent struggle, you conquer it. Only love conquers because only love knows how to surrender. Only love knows how to be defeated. That's why love conquers. Love becomes victorious because love knows the secret key. There is only one victory with existence, and that is the victory of being surrendered to it. Once you surrender to it, the whole universe surrenders to you. The universe is just a response. Whatever you are doing, the universe goes on echoing it. The universe is not really doing anything to you. Rather, you are doing something to yourself through the nature. If you are trying to conquer it, you are creating a conflict. The nature will respond with a conflict. It is your own face reflected in it. If you are not fighting, nature is not fighting. If you are ready to surrender nature will surrender to you this surrendering attitude towards existence is prayer this attitude of surrendering towards the whole will make you also whole meditation is the path how to surrender three things are to be remembered. One, you are born out of existence. The existence is your mother. So those who call God the Father are not right. This is just male-oriented attitude. God is not the father. God is the mother. Because we are born out of it. The whole universe is a womb. You will, one comes out of it and then finally one drops again into it just like a wave in the ocean, jumping and then falling back. And if a wave is struggling against the ocean, that wave is stupid. It is bound to go mad. And we have gone mad. This madness has to be dropped. So the first thing to remember if you really want to go deep in ecstasy, violent, aggressive approach towards existence is not for you. A loving approach, a friendly approach, a surrendering approach. Or we can say it in another way. With science the approach is male approach with religion the approach is feminine approach with science it is positive aggression with religion it is passive love surrendering being in a deep let go But before this let go, this love, you must throw out all your diseases which create aggression within you. You are aggressive because you have accumulated aggression. You have accumulated anger, hatred, jealousy. You have accumulated much poison within you. That poison has to be thrown. Only then this aggression will disappear. And remember, and you cannot approach the divine with an aggressive mind. You will never find him. The very attitude becomes the obstacle. You can approach the divine only in a very deep passive receptivity. So no aggression should be there within you. No passion, no violence. That's why too much emphasis on catharsis. In meditation, throw whatsoever you have accumulated in the past, all the dust, all the dead past, throw it away. Act it out. Act it out of your system completely. Then, then you can surrender. Because only then when aggression is not in you, surrender is possible. In the modern age, relaxation has become a problem. No one is really capable now of relaxing. Such a simple thing. Even cats do it better than men. Look at a cat relaxing. How deeply relaxed and you cannot do it. What has happened to man? A cat can do it and a man cannot do it. So much accumulated aggression is there, it cannot allow you to relax. You are really deep down afraid of relaxation. That's why you cannot relax. Because the moment you relax, the suppressed madness will come out. You cannot relax. You are afraid. You have such nonsense within you that if you relax, it is bound to come out. It may flow out of you. That fear creates a protection, a defense measure. You create a wall around it, and because of that wall, you cannot relax. And if you cannot relax, how can you surrender? because surrender is absolute relaxation it is really merging into the universe so much so that you don't feel you are you feel the universe is the existence is you are so relaxed that you don't feel any boundary to you and to the universe then there is no division if you are tense you are divided if you are relaxed, you are undivided, one. Surrender is deep relaxation, absolute relaxation. Unless you throw out all that has become part of you, part of your mind, you cannot relax and you cannot surrender. And if you cannot relax, you cannot participate into existence. And participation is bliss. Because the whole universe is celebrating, every moment celebrating. It is a great celebration. It is a constant celebration. Only we are not part of it we have detached ourselves and we are in misery man is in misery because of the mind the flowers are participating the moons are participating the stars are participating the earth is participating the oceans are participating the air and the clouds everything is participating in that continuous eternal celebration. Only man has become an outsider. And because of his own efforts, on his own, he has separated himself. Meditation is a reunion. It is going back to the mother. It is coming back to the home. But then, whatsoever dust you have gathered on the way, you have to throw it away. So don't be afraid of catharsis. I see you are afraid. If you are afraid, nothing will happen. These eight days are for catharsis so that you can become a new one. The old can die here and you can go with a new face, with a new mind, with a new being. But then you will have to surrender to participate in this great celebration that is universe. For science, universe is a mechanical thing. For religion, it is a celebration. For science, it is accidentus. For religion, it is intenseness. For science, it is just a long process of cause and effect, meaningless. For religion, it is not. For religion, it is not a chaos, it is a cosmos. And not a mechanical thing, but, but a conscious intention, and not meaningless, but intrinsically meaningful. And that meaning is hidden in the celebration. We have conceived God as a dancing God. The whole universe is a dance Unless you can dance, you cannot become a part of it. Meet this dancing universe in a dancing approach. Go to this celebration in a celebrating mood. But how can you create a celebrating mood? How you yourself can become a celebration when there is aggression, violence, hatred, and thousands and thousands diseases accumulated inside and you are defending them you are safeguarding them you are your own enemy become a friend to your own self allow this whole nonsense within repressed unconscious to be acted out. Be courageous to express the diseases. The moment they are expressed, the moment your unconscious diseases become conscious, they disappear. This is the only way. What psychoanalysis is doing, all the psychoanalysts, Freud, Jung or Adler or others, what they are doing they are doing in a very lengthy process the same making your unconscious conscious talking for years together with the patient the psychoanalyst analyst makes him aware of his unconscious but this is a too long process too expensive and not worthwhile and the results are not very meaningful and not very hopeful. But the base is right. If unconscious repressions are allowed, opened, exposed to the conscious, they disappear. They evaporate you are freed from them unburdened you become weightless this is what we are doing but this is a very intense method it is not going to be for years and years just waiting on the coach of a psychoanalyst and going on talking talking talking talking about your dreams and talking about your unconscious and then bringing everything in bits out of you. This method it is to bring your unconscious immediately exposed, but then you have to help me. You have to cooperate with me. I cannot do anything unless you cooperate. Unless you are ready to transform yourself, I cannot do anything. With your cooperation, much is possible. With your courage, you can become something meaningful. Meditation starts with catharsis and ends in celebration. When your diseases are thrown, then you can dance and laugh and then you can feel blissful. And only in this blissful state there will be a meeting, meeting with the universe. That meeting is divine. And unless you have known that meeting and reun- reunion, you have not known anything at all. Only one thing is worth knowing and that is the deep rootedness of your being into the being of the universe. Unless you know and feel that you are the universe, you are in the universe, and the universe is in you, you will be in misery. You will be in hell. Now, something about the night meditation and then we will move into it. This method is a very intense method. For 20 minutes, you are going to stare at me with your eyes unblinking. with your hands raised towards the sky, just as a preparation to meet, to meet with the cosmos. And you will be jumping so that your energy is active and you are in a vital state and the meeting can happen your energy flowing upwards. So while you are standing with your hands raised, jumping, staring at me, feel your energy is moving up and jump with that energy which is moving up. You must move a little so that existence can descend into you. You must go at least one step. Then the divine can come. One step from you is enough. In this state, staring at me, jumping, feeling energy moving up as if you have become a tree spread into the sky jumping to meet jumping to meet the sky you will be simultaneously using the mantra Hu loudly. This Hu hits, hammers the energy within. The Kundalini starts arising. We in India have called this energy Kundalini the serpent power. The serpent uncoils this who has many meanings. It is multidimensional. This who hits the energy which is coiled. Actually, it hits the energy which is coiled in your sex center. And then the energy begins to move. And you jumping with your hands raised and spread towards the sky, the energy will flow in a fast current. You will feel that current. The more you feel it, jump more, so you are helping it. And go on using the mantra who, who, who as a hammering. It is a sound hammering. For 30 minutes, you have to be completely mad, so your all madness is thrown out and don't withhold yourself. Move into it totally. Because half effort is no effort, useless. Unless you do it totally, nothing will happen. Only at a certain point you touch existence. Just like at 100 degrees, the water becomes vapor, evaporates. If it is only at the 90 degree heat, it may become hot, but it will not change. The heat must come to a certain degree. Only then transformation. So half effort is useless. You are wasting energy and moving nowhere. You will just become lukewarm and nothing will happen and you will not feel evaporation. Bring your total energy to it. Don't withhold anything move completely in it. Within 30 minutes, your energy will become vital and flowing. It will become a current, a fast current, moving from the earth towards the sky. And you will be just something in that current, vibrating. You will have disappeared, only energy vibrating and jumping, ready to meet, ready for the deep communion I am talking about and then I will stop you for 10 minutes. Remain in total silence. In that total silence, you can become more aware what is happening within. A new door is opened. A new light descends on you. A new bliss overflows. And you have a feeling that the divine is everywhere, all around, within and without. ab hum raat ke dhyan ke liye taiyar ho jaye तैयार हो जाएं दोनों हाथ आकाश की तरफ ऊपर उठा लें मेरी ओर देखें आंखें झपके नहीं अब